हाय दियना दी मेरा साई आय दियना दी मेरा साई आय दियना दी दृष्टि न मुष्टि है अगम गोचर दृष्टि नमुष्टि है अगमय गोचर यह सब माया उन्हीं माही यह सब माया उन्हीं माही जो बनमाली सींचे मूल जो बनमाली सींचहि मूल सहजे पीवे डाल फल फूल सहजे पीवे डाल फल फूल जो नरपतियों गिरह बुलावे सेना सकल सहज ही आवे जो नरपतियों गिरह बुलावे सेना सकल सहज ही आवे जो कोई करे भानु प्रकाशा जो कोई करे भानु प्रकाशा तो निस्तारा ही सा सो सहज ही सा गरुड़ पंख जो घर में लावे गरुड़ पंख जो घर में लावे सर्प जाति रहे नहीं पावे सरप जाती रहे ने नहीं पावे दरिया सुमरे कही राम दरिया सुमिरे एक ही राम एक राम सारे सब काम एक राम सारे सब का आदि अनादि मेरा साई बिल्कुल सही कहा है दरिया साहब ने कि जो मेरा साई है जो मेरा सदगुरु है वह तो आदि अनादि मतलब न उसका आदि है न अंत वह अनंत है आदि अनादि मेरा साई वह अनंत है वह सीमा से परे है वह दिव्य नूर है प्रकाश दिव्य ज्योति ऐसा साई है वो बस मेरा साई एक है वह अनंत है दृष्टि न मुष्टि है अगम गोचर वह देखने में नहीं आता पकड़ने में भी नहीं आता अब आकाश को पकड़ने चलेंगे तो क्या पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते मुट्ठी में आकाश बांधने चलेंगे तो मुट्ठी तो बच जाएगी इस आकाश को बांधना है मुट्ठी तो बच जाएगी आकाश बाहर इसलिए दृष्टि देखने में भी नहीं आता इन आँखों से इसे नहीं देखा जा सकता उसको देखने के लिए विवेक चक्षु की आवश्यकता है जब विवेक खुल जाता है धीरे तो खुल जाता है तो फिर वो परमात्मा तो चौबीस घंटे दृष्टिगोचर होता है चौबीस घंटे हम में तुम में खराब कम में सब में दिखता है वही और सब उसी में दिखता है आगे उदाहरण दे रहे हैं कि यह सब माया उन्हीं माई ये जितनी भी माया देखने में नज़र आती है जितनी भी चीज़ें जड़ चेतन वस्तुएं हैं साथ ही नानाविध ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड है ये सभी माया के अधीन है और वह सभी उस दिव्य ज्योति उस परमात्मा की परम ज्योति में ही स्थित है और साथ ही वह परमात्मा सबके अंदर भी है आंशिक रूप से तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यह सब माया उन्हीं माई जो माया दिख रही है सब उन्हीं के अंदर में है जो बनमाली सींचे मूल सहजे पीवे डाल फल फूल दूसरी बात बता रहे हैं कि जैसे माली है और वो किसी पौध को सींचता है आम का वृक्ष लगाया है या जो कुछ भी पौध लगाया है तो उसके मूल को सींचता है और मूल में पानी डालने से वो तनोक तना के माध्यम से वो सभी डाली अंग प्रत्यंग सब फल फूल में चला जाता है उनमें डालने की आवश्यकता नहीं होती कि एक एक पत्ते में डालिए एक एक फूल और एक एक फल में डालने की आवश्यकता नहीं होती वो मूल को सींचता है और स्वयं पानी सब जो है पूरे वृक्ष में चला जाता एकदम वृक्ष के नोक तक पहुंच जाता हर डाली हर पत्ते हर फूल में पहुंच जाता है उसी प्रकार से यदि मनुष्य इस आदि सक, इस आदि ब्रह्म जो परम ब्रह्म है परमात्मा है यदि उसका ध्यान करता है उसका स्मरण करता है तो सभी देवता सभी सिद्ध सभी ऋषि मुनि सभी दृढ़ चेतन वस्तुएँ संतुष्ट हैं क्योंकि ये संसार उस परमात्मा का प्रकट रूप है मतलब व्यक्त रूप है उस व्यक्त स्वरूप में सबके अंदर वह अव्यक्त रूप से विद्यमान भी है ये शरीर व्यक्त है इसमें बोलने वाला अव्यक्त है तो उस अव्यक्त एक ही है जो अनंत है यदि हम अव्यक्त का ध्यान करते हैं तो सब में अव्यक्त है तो होगा ना सब कुछ क्योंकि सब में तो अव्यक्त ही है पेड़ में भी है पत्थर में भी है जीवों में हर जीवों में भी है मनुष्य में भी यदि हम मूल को सींचते हैं तो सब सिंचाई हो जाए और भिन्न भिन्न पत्ते को सींचना शुरू करें डालियों को सींचना शुरू करें तो पता यह चलेगा कि वो खुद सड़कर समाप्त हो जाए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा पानी गिरते गिरते नित नित चंदन नित नित पानी ठाकुर जी गल गिले तो हम कह जाए <laughs> ये बात हो जाती है ना तो सहजे पीवे डाल फल फूल जो नरपति यो गिरह बुलावे सेना सकल सहज ही आवे आदि जो राजा कोई होता है नरपति राजा को कहते हैं मनुष्यों का राजा तो जो राजा होता है वो यदि गिरह बुलाए घर अपने बुलाए सेना को तो पूरी सेना चली जाती है जब वो आर्डर कर दे तो राजा है तो सब चला जाएगा कौन रुकेगा આગ है राजा जो नरपति यो गिरह बुलावे सेना सकल सहज आवे पूरी सेना घर पर आ जाती है अर्थात अब इसको यदि हम उस सदगुरु उस परमात्मा उस निर्माण उस अनाम का ध्यान करते हैं तो ये सब खुद ही अपने आप खुश हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं उसके पास ही रहेंगे ये सब अपने आप को सुनिए ऐसा ही है तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई करे भानु प्रकाशा तो निस्तारा सहज ही ना सा यदि कोई सूर्य को उगा दे सूर्य का प्रकाश कर दे तो रात्रि में जो तारे होते हैं वो अपने आप ही डूबने लगते हैं डूब जाते हैं दिखलाई नहीं देते और अंधकार भी भग जाता है उसी प्रकार यदि साधना सत्संग ध्यान और सदगुरु कृपा से हम अपने अंदर के ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकाशित कर देते हैं तो ये माया रूपी जो अंधकार है वो अपने आप गायब हो जाए उसको गायब करने की ज़रूरत ही नहीं होगी यदि अंधकार को हटाना है तो प्रकाश कर दो अंधकार हट जाएगा अंधकार का कोई वास्तविक अस्तित्व तो नहीं होता अंधकार तब तक है जब तक प्रकाश नहीं है अधि प्रकाश कर दो अंधकार अपने आप भाग जाएगा उसे भगाने की जरूरत नहीं है उसी प्रकार हम अज्ञान की अवस्था में हैं तो अंधकार ही अंधकार है माया का प्रभाव भी है माया के बसीबूत भी है लेकिन यदि ज्ञान रूपी सूर्य हमारे अंदर से प्रकाशित हो जाए अर्थात हम देह रहते विदेह हो जाए शून्य हो जाए बस ज्ञान रूपी सूर्य उग जाए ज्ञान रूपी सूर्य के उगते ही सभी माया सभी बंधन छूट जाते हैं हाँ फिर उसका प्रेम राग न होकर वस्तु या व्यक्ति न होकर आत्मा व परमात्मा समझ के करता है यानी उसका प्रेम शाश्वत हो जाता है उसका प्रेम निष्काम हो जाता है और केवल परमात्मा से ही मिलता है परमात्मा से बातें करता है परमात्मा को ही देखता है यही तो अजपा जाप है बिना जपे जपे हो रहा है सब में वही तत्व जो बैठा हुआ है परमात्मा अंदर में सभी जड़ चेतन वस्तुओं में उसको देखता है तो जाप हो रहा है किसी को अजपा जाप कहते इस स्थिति में होता है जब सूर्य प्रकाशित हो जाए तुनि तो सितारा सहज ही नासा ये अंधकार रात्रि का जो तारा उगे है इस समय सूर्य उग गया है तारा गाय अंधकार भी गाय और अगला उदाहरण दे रहे हैं कि गरुण पंख जो घर में लावे सर पर जाति रहने नहीं पावे यदि गरुड़ एक पक्षी है जो नागों को खाता है सर्पों को खाता है यदि गरुड़ का पाख खाली घरे में रख रहा तो कौन सर्प ना आई दुरैया सरवा ही कहीं आए नहीं का वैसे ही यदि उस सदगुरु अर्थात उस परमात्मा की दिव्य ज्योति अपने अंदर से प्रस्फुटित हो जाए कई कुल जो नाग हम पाँच नाग पचीस नजनिया काम क्रोध लो मोह अहंकार पचीसो प्रकृति ये संसार के मायावी नाग कौनों पजरे नहीं है भागा इधर से तो जरत थे अपना बाल इधर जड़ी बाजू सब है ना कबीर साहब वाले पाँच नाग पचीस लगनिया सुन तुरंत मरी गुरु मही दीनी अमृत नाम जड़ी कई अमृत नाम जड़ी यह दिव्य ज्योति दिव्य प्रकाश जब अंदर से प्रस्फुटित हो जाएगा तो ये पांचों नाग पचीस नागिन बेहोश कजरी नहीं उसी प्रकार नहीं आएंगे जिस प्रकार गरुड़ के पंखों को घर में रखा दे दिया जाए तो कोई सांप नहीं आए डरता है दरिया सुमरे एक ही राम एक राम सारे सबका तब दरिया साहब कहते हैं कि बस एक ही राम है एक वो ब्रह्मदूती नास्ते रमता है सो राम घट घट व्यापी राम कण कण व्यापी राम उस राम की बात करते हैं संत जब राम कहता है तो उसका मतलब इस निराकार निर्गुण अनाम का नाम है और संसार वाले क्या करते हैं राम मतलब दशरथ के पुत्र का नाम ये राम को मानते जबकि ये राम पांचवा राम तो इस तरह की बात कि दरिया सुमर एक ही राम दरिया साहब कहते हैं कि बस एक राम का सुमरन करता हूँ जो घट घट में विराजमान है जिसमें समस्त संसार है और जो समस्त संसार के कणकण में व्याप्त भी है उस राम की एक राम सारे सब पर क्योंकि एक ही राम है बाकी जो कुछ है उसे छोड़कर सब काम है काम मतलब संसार है जो विकार है काम क्रोध मोह अहंकार ये सब मूल तत्व काम ही है काम ही का सभी विकार एक रूप हो गए हैं एक स्थिति विशेष में काम ही क्रोध बन जाता है काम ही लोभ बन जाता है काम ही मोह बन जाता है ऐसा हो जाता है यही चीज़ है तो मूल तत्व एक ही है काम और काम और दूसरा है इसका अपोजिट राम या नाम नाम को जान गए काम खत्म नाम को नहीं जाने तो काम ही है चाहे जो कुछ कर लो शून्य तक त्रिकुटी तक काम है जब नाम को जानेंगे तो काम समाप्त अब केवल नाम है राम है और नाम है ठीक